विक्रांत समन्ता के शब्दों की इम्पोर्टेंस अच्छे से समझता था ऐसे में उसने तुरंत ही वहां पर खड़े एक पुलिस वाले की तरफ देखते हुए कहा एक काम करो इसको सिगरेट ला दे दो एक मेरे पास है जब पुलिस वाले ने तुरंत ही अपना जेब टटोलते हुए कहा उसने अगले पल अपनी जेब में से एक सिगरेट निकालकर समन्ता के हाथ में रख दिया सिगरेट पाकर मानो समन्ता को जन्नत मिल गई हो उसने तुरंत ही सिगरेट को अपने होठों से लगाते हुए इसे सुलगा लिया और फिर लंबी कश खींचते हुए राहत से भरी सांस ली सिगरेट खींचने के बाद उसने लंबी सांस छोड़ते हुए आगे बोलना शुरू किया सब एक से बढ़कर एक कमीने थे अभी तक तो सिर्फ मैंने दया कर के बारे में बताया है उससे भी ज्यादा कमीना तो वो कैमरामैन था अनिकेत राव साला हरामी की औलाद सभी एक्ट्रेस का बाथरूम में कैमरे लगाकर गंदे गंदे वीडियो बनाता था कमीना किसी को नहीं छोड़ता था समंता ने सिगरेट का अगला कश लिया और फिर अपने होठों से धुएं की रेल निकालते हुए कहा ये और दया कर की ही तरह इसका भी कोई कुछ नहीं कर सकता था चैंपियन पिक्चर्स का परमानेंट कैमरामैन था ना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के चाटता था साला वो भी उसी के साथ रहते थे इसीलिए लड़कियों को उसकी हरकत का अंदाजा रहता था लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाती थी और ये साला भड़वा हमेशा ऐसे ही हरकत करता रहता था समंता की गंदी जुबान सुनकर अनुष्का को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी लेकिन समंता बिल्कुल बेफिक्र होकर फिल्म क्रू वालों को गाली दे रही थी पता है अगर कोई एक्ट्रेस इस भड़वे की गंदी हरकतों का विरोध करती थी तो ये साला उसके और पीछे पड़ जाता था शूटिंग के टाइम में फालतू की गलतियां निकाल निकाल कर परेशान करने लगता था इतना घटिया इंसान था कि लड़कियों को उनकी गंदी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल भी करने लग जाता था समंता ने आगे अपना दांत पीसते हुए कहा मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये कमीना लड़कियों की गंदी क्लिप और वीडियो बनाकर उन्हें पोर्न साइट पर बेचता भी था इसके इस काम में कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स भी शामिल थे ये सुनकर तो विक्रांत का खून खोल उठा सच में कैमरामैन अनिकेत बहुत ही घटिया आदमी था विक्रांत ने कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्म क्रू के जितने लोग मारे गए हैं वो सभी इतने घटिया सुरखिरे लोग हो सकते हैं लेकिन अनिकेत की जो यूएसबी ड्राइव मिली थी उसमें उन कुछ खास एक्ट्रेस की गंदी वीडियो होने के साथ और भी कई सारी लड़कियों की गंदी फुटेज मौजूद थी इसके साथ ही उस ड्राइव में कई सारे एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भी हिडन क्लिप मौजूद था डायरेक्टर रविचंद्रन समंता ने घिनौनी सी शक्ल बनाते हुए ये नाम लिया वो सारा क्या करता था फिल्म में एक्टिंग करवाने के नाम पर यंग एज की लड़कियों को पकड़ ले जाता था चूंकि वो कई बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को अच्छे से जानता था इसे लोग उसके ऊपर जल्दी भरोसा भी कर लेते थे लेकिन वो कमीना लड़कियों को लाकर उनका मिसयूज करता था बहुत सी ऐसी लड़कियां आती थी जिनमें एक्टिंग के बारे में कोई सवाल ही नहीं किया जाता था बस उनका इस्तेमाल करके उन्हें भगा दिया जाता था मैं बता रही हूँ ना ये साले मिलकर फिल्म कंपनी के नाम पर सेक्स अड्डा चला रहे थे जहाँ भोली भाली मासूम लड़कियों का मिस किया जाता था 255 ये क्या है विक्रांत ने मोबाइल स्क्रीन पर लिखे नंबर को दिखाते हुए कहा इसका क्या मतलब है पता नहीं समन्ता ने सिगरेट का एक कश लेकर धुएं का गोल गोल रिंग बनाते हुए कुक बहादुर की तरफ देखते हुए कहा आपको पता है क्या बहादुर ने तीन सेकंड तक उस नंबर को ध्यान से देखा और फिर अपना सिर नाम में हिला दिया तभी अचानक से अनुष्का ने फिर से विक्रांत के कानों में बुदबुदाते हुए कहा सर अभी अभी मुझे रिपोर्ट मिली है ये कंफर्म हो गया है कि इनके खून में डाई मैथिल थेडेन और बेचोडिया जेपाइन मिला हुआ था इसके अलावा और भी केमिकल मिले हुए थे जो कि इन्हें बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया गया था विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा इसका मतलब कि समंता और बहादुर झूठ नहीं बोल रहे इन लोगों को वाकई में जहर दिया गया था ललिता मेरा मतलब वो असिस्टेंट डायरेक्टर वो भी बहुत कमीनी थी समंता के स्क्रीन पर नजर आ रही makeup artist assistant director Lalita की फोटो को देखते हुए कहा इसका काम सिर्फ मेकअप का था लेकिन इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ चक्कर था चक्कर क्या था बस काम पाने के लिए दोनों का बिस्तर गर्म करती थी साली और इसी के चलते डायरेक्टर ने उसे अपना असिस्टेंट बना रखा था हमेशा इधर उधर की बातें करती रहती थी अच्छा तो सिफ्यूरो एक्सिम के बारे में कुछ अनुष्का ने मौका मिलते ही सवाल डाक दिया उसका सिफ्यूरो एक्सिम से क्या कनेक्शन था ये क्या है समंता ने हल्की सांस छोड़ते हुए फिर से सिगरेट से छल्ला बनाते हुए कहा यह दवा है सूजन वगैरह कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अनुष्का ने जवाब दिया सूजन कम करने की दवा समंता ने चेहरे से अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए कहा पता नहीं मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में मैंने भी नहीं सुना है बहादुर ने भी अपना सिर नाम में हिलाते हुए जवाब दिया फिर आगे विक्रांत ने प्रोजेक्टर पर नजर आ रही अगली फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा ये photo script writer Naushad Ali की थी हम्म, सच कहूँ तो मैं इस आदमी के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ समंता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वो अभी नया नया ही हमारे साथ जुड़ा था तो मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं थी उससे मुझे इसके बारे में बस इतना पता है कि वो पहले काफी फेमस राइटर था लेकिन फिर बीच में उसकी स्टोरी चल नहीं रही थी इसी वजह से वो हमारे साथ आकर काम करने लग गया था हमारी फिल्म क्रू में वो अभी कुछ दिन पहले ही आकर जुड़ा था अचानक से जैसे समंता को कुछ याद आ गया हो उसने तुरंत ही कहा हाँ एक चीज है मैंने वो प्लस साइन देखा था उसके नीचे कुछ लाइन भी लिखी हुई थी उसने फिर स्क्रीन पर प्लस साइन को दिखाते हुए कहा जब भी वो कोई नया सीन ऐड करता था तो वो हमेशा स्क्रिप्ट के पेपर्स में इस तरह का प्लस साइन ऐड करता था वो क्रॉस साइन एक्चुअल में प्लस का साइन था जिसका मतलब था कि स्क्रिप्ट में कुछ और स्टोरी ऐड की गई है जिस किसी ने ये बात सुनी तुरंत ही उसके दिमाग में ये बात आई कि शायद नौशाद का मर्डर करने की यही वजह थी अच्छा नॉर्मली तुमको कोई एक्स्ट्रा सीन करना पड़ता था इसके बारे में थोड़ा और बताओगी विक्रांत ने सवाल किया समंतर ने जवाब दिया नौशाद के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और वो किसी भी हालत में इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था उसके बारे में लोग बताते थे कि जब उसे फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था तो उस बीच उसने लगातार दो साल की मेहनत के बाद ये स्क्रिप्ट तैयार की थी और स्क्रिप्ट को बेहतर बनाने के लिए वो अक्सर इसमें और भी स्टोरी एड करता जाता था हमारी कंपनी को भी ये स्क्रिप्ट बहुत यूनिक लगी थी इसलिए कंपनी ने नौशाद के स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था मुझे खुद इस फिल्म की स्क्रिप्ट सबसे अलग लगी थी आज तक मैंने अपने फिल्म करियर में ऐसी स्क्रिप्ट कभी नहीं सुनी थी लाइट हम्म, हाउस नाम था ना फिल्म का विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैंने तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ा है मुझे तो कुछ खास नहीं लगा नॉर्मल स्टोरी है लेकिन तुम्हें स्टोरी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा था बताओ शुरू शुरू में जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मुझे भी ये नॉर्मल लगी थी लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट हुई तब मुझे एहसास हुआ कि स्टोरी बहुत यूनिक है अभी हमें पहले विक्टिम के बारे में बात करना है फिर बाद में हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे अनुष्का ने बीच में ही समन्ता की बात काटते हुए कहा हम्म। तो हर्षित ने लैपटॉप पर क्लिक करते हुए आखिरी विक्टिम की फोटो को स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया ये लास्ट विक्टिम है प्रसाद नाम है इसका प्रसाद को आग में जलाकर मारा गया था इसकी डेड बॉडी पुलिस को लाइट हाउस के पास बने घर से मिला हुआ था प्रसाद प्रसाद नई फोटो देखते ही की आंखों में आंसू भर उठे उसने आंसुओं को पहुंचते हुए कहा प्रसाद को क्यों मारा गया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा हम्म, बहादुर ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर क्रू में कोई भला आदमी था तो सिर्फ प्रसाद ही था वो सबसे सही आदमी था पता नहीं क्यों उसका मर्डर हुआ समन्ता ने अपने आंसुओं को पहुंचते हुए कहा बहुत अच्छा नेचर था इसका मेहनत से काम करता था कभी कोई शिकायत नहीं किसी से कोई द्वेष नहीं हमेशा काम करता रहता था और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही रहती थी समंता और बहादुर की बात सुनकर विक्रांत और बाकी के लोग गहरी सोच में डूब गए अजीब बात यह थी कि फॉरेंसिक टीम के पास ना तो प्रसाद की बॉडी के पास से कोई सबूत मिला था और ना ही अभी तक किसी ने उसकी मौत का जिक्र किया था ऐसे में पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद प्रसाद कातिल का टारगेट था ही नहीं उसका मर्डर गलती से हुआ था जिस तरह से बहादुर के ऊपर सिग्नल गन चढ़ाते हुए उसे जलाने की कोशिश की गई थी ठीक उसी तरह से प्रसाद को भी सिग्नल गन से जलाकर मारने की कोशिश की गई थी प्रसाद का शरीर आग में जलकर खत्म हुआ था अभी विक्रांत इस बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि अचानक से अनुष्का ने अपना फोन उठाकर चौंकते हुए कहा रियली अनुष्का ने फोन पर इन्फॉर्मेशन को क्लियर करते हुए कहा कि सर हॉस्पिटल से एक नई न्यूज आई है वो जो सीरियसली इंजर्ड विक्टिम था कौशिक रमन उसको होश आ गया है और उसने कातिल का नाम भी बता दिया है